बा फरागत चला आता था मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहनाकर नाशुक्री का मजा चखा दिया और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया तो उन्होंने उसको झुटलाया सो उनको अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे बस अल्लाह ने जो तुमको हलाल तय्यब रिस्क दिया है उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी करो अगर उसी की इबादत करते हो उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सुअर का गोश्त हराम कर दिया है और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी हां अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और न हद से निकलने वाला तो अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء और यूं ही झूठ जो तुम्हारी जबान पर आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं होगा झूठ का फायदा तो थोड़ा सा है मगर उसके बदले उनको अजाब अलीम बहुत होगा और जो चीजें हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थी और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म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 राह पर चलाया था और हमने उनको दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे फिर ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरकों में से न थे हफ्ते का दिन तो उन्हीं लोगों पर मुकर्र किया गया था जिन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया और तुम्हारा परवरदिगार क्यामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे أحسن إن ربك هو أعلم ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ए पैगंबर लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रस्ते की तरफ बुलाओ और बहुत अच्छे तरीक से उनसे मुनाजरा करो जो उसके रस्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है और जो रस्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और सब्र ही करो और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है और उनके बारे में गम ना करो और जो ये साजिशें करते हैं उससे तंग दिल ना हो कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकुकार हैं अल्लाह उनका मददगार है صدق الله العظيم